अगर इनको निकाला गया तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे और अगर इनसे कताल किया गया तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे और अगर इन्होंने उनकी मदद की तो ये ज़रूर पीठ फेर कर भागेंगे फिर कहीं से इनकी मदद नहीं की जाएगी